Lesson 2 I have a big family. Numbers एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस टू बी डायलॉग अच्छा राकेश क्या तुम्हारा परिवार दिल्ली में है नहीं मेरा परिवार गांव में है परिवार में कौन कौन है मेरा परिवार बड़ा है मेरे दो भाई और तीन बहनें हैं और माँ बाप भी हैं वास्तव में तुम्हारा परिवार काफी बड़ा है क्या परिवार में और कोई भी है बिल्कुल मेरे दादा दादी भी हैं गांव में मेरे चाचा चाची भी हैं और उनके दो बेटे और एक बेटी है और तुम्हारे कितने भाई बहन हैं मेरा परिवार तो छोटा है मेरा सिर्फ एक भाई है और माँ बाप है कोई बहन नहीं है मेरे दो छोटे भाई हैं और एक बहन छोटी है और दो बड़े अच्छा तो तुम सबसे बड़े हो हाँ मैं सबसे बड़ा भाई हूँ पर दो बहनें बड़ी हैं मेरा भाई छोटा है वो अभी स्कूल में है आजकल बड़े परिवार केवल गांव में है शहर में नहीं